न करो सज्जनों मातृशक्ति ईश्वर की महती कृपा से आज हमने उत्तम कार्यों का संपादन किया कुछ आवश्यक बातें पहले मैं रखूं प्राय लोग ध्यान नहीं देते तो मोटी मोटी बातों को भी वे ठीक नहीं कर पाते अब आप यहां गायत्री मंत्र बोलते हैं हम भी बोलते हैं आप भी सुनते हैं और एक अभी जो मंत्र बालिकाओं ने बोला और गायत्री देवी जी ने भी बोला इनके मंत्र में आप क्या देखते थे ई लगा देते उसमें वो ध्यान ही नहीं देते कि ये लोग कैसे बोलते हैं वरे नियम तो वरे नियम बीस वर्ष तक वरे नियम वरे नियम न तो पुस्तक में देखते और न विद्वानों को बोलते देखते तो वह अशुद्धियां ऐसे चलती चली जाती है इसका अर्थ ये होता है वो सुनते हुए नहीं सुनते पढ़ते हुए नहीं पढ़ते जब आपको बुलवाया जाता है वरे वरे नियम नियम वरे नियम तो वरे वरे नियम नियम वरे नियम सारे बोलते चले जा रहे जो लोग उच्चारण पर बहुत ध्यान देते हैं और स्वयं शक्ति कम हो तो बहुत दुखी होते हैं इससे वो आपके उच्चारण करते ही श्रद्धा भंग कर देंगे अपनी इतनी उनकी स्थिति होती है अशुद्ध शब्द बोल दिया तो उसी समय अश्रद्धा पैदा हो जाएगी आपकी सारी बातों के ऊपर तो क्या बोलोगे वरेण्यम वहां ई नहीं है ई अपनी ओर से लगाते रहते वरे नियम वरे नियम वो आप लेखा भी देख लिया करो और बोलने वाले विद्वानों को भी देख लिया करो कम से कम कुछ तो ध्यान दो प्रतिदिन सुनते हैं कई बार सुनते होंगे और वो वो वरे नियम वरे नियम एक बात और है योग के क्षेत्र में योग विद्या सिखाने में बहुत सी बातें लौकिक ढंग की नहीं होती और लोग देखना चाहते हैं लौकिक ढंग की बातों को इस रीति में योग शिक्षण नहीं होता योग विद्या नहीं सिखाई जा सकती मैं एक तो उदाहरण देता हूं ये ब्रह्मचारी आए कोई नया है कोई बीच के काल का है आए है उत्साह है अब ये पढ़ते हैं इनको ऐसे शब्दों से प्रेरित करो आप बहुत अच्छे महान है बुद्धि भी आपकी बहुत अच्छी है दिनचर्या बहुत अच्छी है आपकी तो क्या परिणाम निकलेगा एक स्तर लौकिक स्तर होता है एक व्यक्ति चोरी करता है बहुत झूठ बोलता है और वो कुक्रमों में फंसा लौकिक स्तर पर उसको उत्साहित करते हैं देखो आप बहुत अच्छे बन सकते हो ये चोरी करना छोड़ दोगे झूठ बोलना छोड़ दोगे तो अच्छे बनोगे आप बहुत अच्छे बन सकते हो ये काम ये उपदेश वहां तो काम दे सकेगा वहां पर तो ये उपदेश काम दे सकता है पर योग के विषय में यदि ऐसा सिखाना आरंभ कर दो तो वो साठ सत्तर वर्ष में भी नहीं सीख सकेगा योग एक ब्रह्मचारी यहां पढ़ते थे हम सिखाते तो ये है अपमान से डरो मत सम्मान की इच्छा मत करो कीर्ति मत चाहो सम्मान चाहेंगे कीर्ति चाहेंगे तो योग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे तो हम यही तो उपदेश देते और एक दिन वो लाना देता है कि स्वामी जी ने मुझे कभी प्रोत्साहित नहीं किया अब आप देखेंगे इस शैली को बदल दिया जाए उसकी प्रशंसा की जाए उसको सम्मान की ओर प्रेरित किया जाए ये उत्साह है उसके लिए तो उसका पतन हो जाएगा योग की दृष्टि से अब आपका ले लो आपका कोई साठ वर्ष का व्यक्ति है कोई सत्तर का भी हो सकता है उसको कहते बताओ आज आपने झूठ बोला नहीं बोला सबके बीच में तो कैसा लगेगा आपको लौकिक दृष्टि से तो वो बुरा लगेगा और योग की दृष्टि से ऐसा बोलना ही चाहिए बोलना ही पड़ेगा आप ये देख सकते हैं कितनी बातें यहां ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल लोक से उल्टी दिखाई देंगी आप थोड़ा सा शब्द बोल देते हैं उत्तेजना से या ऐसे जैसे कि उदाहरण के रूप में कई लोग स्वामी जी ये बात बताओ बोलते तो ना एक कैसी भाषा है आपको कहा जाए कि ऐसी क्यों बोल देते हैं मैंने क्या बोल दिया ठीक है तो बोला है वो ऐसा व्यक्ति अनुभव करेगा आप हंसते हैं कई बार और दूसरी से बात करते हैं तो सिखाने वाला बोलेगा कि ये असना जो है इसकी बाह्य वृत्ति को बढ़ाएगा पैदा करेगा संयम नहीं रहेगा इसके पास उसको रोक दिया जाता है असवत अब लौकिक दृष्टि से तो वो अच्छा माना जाता है और योग के क्षेत्र में वो उसके लिए बाधक बनेगा ये बच्चे हैं ना छोटे छोटे कूदते हैं उछलते हैं उसको हाथ मार दिया अच्छा लौकिक दृष्टि से तो आप इनको अच्छा ही मानोगे या नहीं उसको छेड़ के भाग गया उसने उसको वैसे छेड़ दिया अच्छा ही माना लेना पर योग के क्षेत्र में बिल्कुल उल्टा होगा उसको रोका जाएगा उनको धमका के तो भी रोकेंगे वैसे नहीं तो बहुत लंबा प्रशिक्षण है योग का इसलिए याद रख लो वैदिक काल में भी ऋषियों ने यह कहा था इस ब्रह्म विद्या को जो है जानने वाला और जानने वाले से सीखने वाला दुर्लभ है उस समय कहा था वैदिक काल में आज की तो कथा क्या है ये बात तो अलग है आप एकदम ऊंचे योगी बन जाए इसको छोड़ दीजिए परंतु कुछ भी अंश में आप या की चीजें सीख के चले जाओगे तो परिवार में सुधार होगा समाज में सुधार होगा व्यक्ति के जीवन में सुधार होगा सिद्धांतों का परिज्ञान आपको होगा दर्शन विद्या का अंश आपके हाथ लगेगा वेदों का सिद्धांत का पता चलेगा हमको क्या करना चाहिए आर्य समाजी व्यक्ति का जीवन कैसा हो यह पता आपको जरूर चल जाएगा और आप में से हो सकता है कुछ लोग ऊंचे योग में भी गति कर सकते परिश्रम के ऊपर है तो सोचने का ढंग पद्धति और योग सीखने के नियम उनको आप ध्यान से सुने समझें एक बात और आपने योग दर्शन पढ़ा फिर दो बार पढ़ा फिर तीसरी बार पढ़ा बहुत से सूत्र वही पढ़े आपने कई वर्ष हो गए और फिर मन में आया कि ये तो पहले वर्ष में पढ़ा था और उससे पहले वर्ष भी पढ़ा था और अब भी पढ़ा अब क्या पढ़ना योग को सीखने वाला ऐसा नहीं सोचता उसके सोचने का ढंग पद्धति बिल्कुल अलग होगी उसने देखा कि पहले पढ़ा दूसरी बार पढ़ा तीसरी बार पढ़ा मेरे जीवन में ये कांश कितना है आज मैं ये देखना चाहता हूं और वो देखता है तो योग कांश व्यवहार के रूप में कोई विशेष नहीं मिलता तो पता चल गया इसको तो सौ बार पढ़ो बीस बार पढ़ो तब भी ये कम ही रहेगा आज नहीं योगेश सूत्रवृत्ति निरोध है इस सूत्र को पढ़ते जाइए और चलते जाइए वर्षों तक चलते जाइए इस सूत्र में जो बात कही गई है वो धरती को उतारने के लिए बीस वर्ष में भी समर्थ होना कठिन है ये सोचने का ढंग है पद्धति है कुछ बातें मैंने बतलाई कि योग के सीखने सिखाने वालों की भाषा उनकी विचारधाराएं उनकी मान्यताएं बहुत अधिक है आपको आज से सिखाने लगे तो बरसों तक सीखने सीखते चले जाइए पूरी होंगे इतना इतना लंबा चौड़ा प्रशिक्षण है योग का इंद्र की कथा सुनी थी आपने 101 वर्ष तक गुरु जी के पास में रहकर विद्या प्राप्त की थी उस बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति ने 101 वर्ष ब्रह्मचारी रह करके ब्रह्म विद्या प्राप्त की थी इंद्र ने ये कल्पना कीजिए आप तो अब कल का प्रकरण है एक परमाणु से अच्छी प्रकार से पदार्थ को जानना चाहिए फिर निर्णय करना चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण के विषय में कुछ जानना चाहिए जो वेद हैं जो ईश्वर कृत माने जाते हैं वेदों के जो शब्द हैं वे ईश्वर के कहे शब्द आगम शब्द प्रमाण है इस कोटि में आते हैं और जो सत्यवादी सत्यमानी पूर्ण विद्वान पक्षपात रहित परोपकारी गौतम कणाद महर्षि दयानंद आदि वो जो ऋषिकृत ग्रंथ है या उनका उपदेश है वो आगम अथवा शब्द प्रमाण की कोटि में माने जाते हैं ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता जहां अनुमान प्रमाण काम नहीं करता वहां पर शब्द प्रमाण काम करता है आप कसौटी रखिए कोई विद्वान प्रवचन देता है कोई लेखक लेख लिखता है कोई व्यक्ति बात कहता है जट से आप शोध प्रमाण पर चले जाइए ये शब्द प्रमाण के अनुरूप है या नहीं है वहां पर ले जाइए बात को आपको जट समझ में आ जाएगी आप निर्णय कर सकेंगे जैसे कि ब्रह्मा कुमारी का मत है कि ईश्वर परमधाम में रहता है एक देश में परमधाम में रहता है उन्होंने ऐसा कहा और आप ये वेद और दर्शनों में सुनते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है तो शब्द प्रमाण के सामने उनकी बात आती है शब्द प्रमाण के सामने खड़ी करिए शब्द प्रमाण को लेकर के उनकी बात के ऊपर विचार कीजिए जब से आप निर्णय कर लेंगे कि एक देश में परम धाम में ईश्वर का रहना शब्द प्रमाण के विरुद्ध है इसलिए अमान्य है ये मैंने एक उदाहरण दिया है ऐसे ऐसे बीस कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं जो लोग शब्द प्रमाण को नहीं जानते नहीं समझते वो ऐसी बातों का निर्णय नहीं कर सकते आप उपासना में बैठते हैं उपासना में बैठे बैठे संदेह हो गया पता नहीं ये मैं योगाभ्यास कर रहा हूं कुछ लाभ ही होगा या नहीं होगा पता नहीं एक बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति आर्य विचार के कर्मठ कार्यकर्ता थे उनसे मैंने पूछा आप जब ईश्वर का ध्यान करते हैं तो कैसी अवस्था बनती है उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं ऋषियों को मान मानता हूं उनके सिद्धांतों को स्वीकार करता हूं पूरा प्रयास करता हूं उनके अनुसार चलू परंतु कई बार ऐसा होता है कि मैं जो ध्यान में बैठता हूं तो संशय होता है पता नहीं जिस भगवान की मैं खोज कर रहा हूं वो है या नहीं है ये समस्या सबके सामने आती है आप विचार करें तो पकड़ में आएगी और इसका समाधान श्रुत प्रमाण से हो जाता है जब जब संदेह उत्पन्न हो संशय उत्पन्न हो शब्द प्रमाण को लाके खड़ा कर दो कितने निर्णय ऐसे हैं व्यक्ति के दिमाग में वो अपनी बुद्धि से उस विषय में दूसरे ढंग से निर्णय करता है और शब्द प्रमाण के आधार पर उस विषय का निर्णय दूसरे ढंग से दिख रहा अब प्रश्न खड़ा होता है क्या वो अपनी बात को माने या शब्द प्रमाण को माने ये प्रश्न सबके सामने आएगा बुद्धिमत्ता वास्तविकता उन्नति का आधार क्या है अपनी बात को ठुकरा देना चाहिए और शुद्ध प्रमाण को मान लेना चाहिए ये इसका उपाय जो व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में ऐसे संबंध में इन विषयों में ये निर्णय नहीं करता वो सत्य को ठीक प्रकार से मैं जान सकता न सत्य पर चल सकता है साधारण रूप से व्यक्ति चोरी आदि विषय में इच्छा रखता है बहुत जिसका अभ्यास हो गया उसको छोड़ दो तो वो कोई चीज खाने की मिल गई वहां चले घूमने नींबू लग रहे हैं वहां इस ओर चले तो भाई कोई आम लग रहा है तो इच्छा होती है नहीं तोड़ने की होती है नहीं होती बोलो आइए एक वृद्ध व्यक्ति आए थे पता नहीं पचास वर्ष के थे या साठ के थे तो यहीं आए थे हमने पूछा किसने क्या भूल की उसने कहा जी मैंने भूल की क्या की नींबू तोड़ दिया वहां से आपके सामने भी जी पीला पीला नींबू दिखाई देता होगा और खाया होगा कभी पहले तो कैसी इच्छा होती है बताओ होती है ना तोड़ने की इच्छा होती है कितनी चीजों की इच्छा होती है व्यक्ति के अंदर से और शोध प्रमाण उसे विरुद्ध कहता है व्यक्ति के मन में जो जो विचारधाराएं उभरती हैं उभारी जाती हैं वो पता नहीं कितनी होती है और व्यक्ति अपनी बुद्धि से निर्णय करने लगता है तो शब्द प्रमाण से विरुद्ध जाता है निर्णय वहां वहां पर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है कि अपनी बात का स्वयं विरोध करना पड़ता है इच्छा की बात नहीं कई बार मैं देखता हूं रेडी वाले अंगूर बेचते हैं और वहां लेने वाले खड़े होते मैं देखता रहता हूं और वो अंगूर लेने वाला क्या करता है एक दाना तोड़ता है इच्छा नहीं हो तो बल्कि हाथ से करता है इच्छा पर बात नहीं रही है उसकी इच्छा तो पहले हो चुकी थी दाना अंगूर का पीछे तोड़ा उसने और खाया एक खा गया कहते भाई क्या भाव लगा रहे हो <laughs> और वो बेचारा अंदर अंदर दुखी आप भी करते हो आप नहीं कोई गड़बड़ कोई नहीं नहीं करते और करेंगे तो इतनी हिम्मत थोड़ी होगी कि मैं करता हूं एक आदि की होगी मुश्किल से एक वकील आए थे बड़े अच्छे बुद्धि मानते शिक्षण शिविर में उसने बड़ी अच्छी बात बताई उड़ीसा में गुरुकुल हैं दो कन्याओं का है स्वामी धर्मान जी आ रहे थे उसने अंतिम दिन जैसे आप बताने चलेगा आप आएंगे ना बर्थ लेना पड़ेगा तो कहीं का देखो भाइयों <laughs> मैं तो दुनिया भर की झूठ बोलता हूं प्रातः काल से लेकर सारा काम झूठ के ऊपर करता हूं और आज के पीछे मैं झूठ छोड़ने का प्रयत्न करूंगा आप देखेंगे वो तो जो अंगूर खाता जाता है वो रोने वाले की आत्मा क्या कहती है दुखी है और ऋषि क्या कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेशु यह पश्यति से पंडित है आत्मवत जो व्यवहार करता है वो वास्तव विद्वान है स्वस्थ प्रेम आत्मन है अपने आत्मा का जो प्रिय हो वो दूसरे की आत्मा का प्रिय है अपने आत्मा का जो अप्रिय हो वो दूसरे का भी अप्रिय होता है जब आप रहने वाले होते हाँ भाई आप रहने वाले होते और खाते ये तो आज आप खा रहे हैं तो आपको कैसा लगता आत्मा में देखो आप रहने वाले होते और खाता दूसरा तो खाने वाले को कैसा लगता बुरा लगता वो शब्द प्रमाण को नहीं देखता और वो करता चला जाता अपने यहां हम कहते माताओ बात मत करो इस कमरे में जाओ माताओ मौन रहो अच्छा फिर गई फिर गदरसा मचा <laughs> फिर कहा माताओ मौन रहो अच्छा उनसे ये पूछो माताओं आपको यहां का अधिष्ठाता बना दिया जाता और आचार्य बना देते शिकाती तो आपको कैसा लगता सूर हाँ जी बोलो कैसा लगता बुरा लगता अब अच्छा लग रहा है हाँ जी है हाँ? हाँ तो उस उसमें आप देखेंगे कि ये व्यवहार क्यों होता है वो शब्द प्रमाण को ध्यान में नहीं रखते ऋषि ने जब ये कहा वेद स्मृति ही सदाचार है स्वसच प्रियमात्मन है ये चार धर्म की कसौटी अब वो व्यक्ति जहां जहां देखता है वो शब्द प्रमाण को देखता जाता है उसका व्यवहार वैसा ही होता जाता है यहां घंटी लगी लग गई घंटी अच्छा कई लोग जब घंटी लग लेती है जब भागते हैं भी होती है प्राय और घंटी लगने के पीछे दस मिनट लगाएंगे कोई पीछे दौड़ेगा फिर वहां दौड़ेगा अच्छा जो प्रबंधक होते हैं वो देखते हैं इस व्यक्ति ने गलती की इसने की कल भी कर रहा था ये अब ऋषियों ने क्या कहा जो दूसरे को कष्ट देना है वो हिंसा कहलाती है जो नियम का पालन नहीं करता वह हिंसक व्यक्ति है तो ये है या नहीं है अब आपने सुना कि वहां आप बात करते हैं रोकने वाले रोकते हैं बात नहीं करें और प्रबंधक को ये अच्छा नहीं लगता तो वो सारे वहां बात करने वाले हिंसक बैठे हुए होते जो बात करते हैं वो हिंसक होते हैं वो ध्यान नहीं देते ऋषियों ने बताया इक्यासी प्रकार की हिंसा अस्सी एक इतने प्रकार की मन से वाणी से और शरीर से होने वाली हिंसा है और इक्यासी प्रकार की है योग दर्शन व्यास भाष्य यम नियमों का प्रकरण है भीतर का हिंसा आधय कृत कार्य तनुमोदिता सूत्र प्रकरण में अब इक्यासी प्रकार का झूठ इक्यासी प्रकार की चोरी समझ में ना सब बातों में इक्यासी इक्यासी प्रकार की लगा लो यमुनी में कितने इक्यासी हो जाएंगे दस के दस इक्यासी को जोड़ लो नहीं अब आप देखो कितना बम करते हो गणना लिए सर कठिन एक बड़ी कथा लेकर के ऐसी पृथ्वी दो तो सायकाल ताकि अब सभी क्षेत्रों में याद रखिए व्यक्ति अपने दिमाग से सोचता है विचारता है उसका स्तर उतार चढ़ाव की ओर जाता जाता कभी ऊंचा ज्ञान कभी नीचा कभी मत देखा चलता रहता है और जो व्यक्ति ईश्वर प्रमाण को लेता है वेद दर्शन उपयोग ऋषियों की बात को दिमाग में रखता है वो व्यक्ति बड़ा सावधान रहता है उन नियमों का पालन करता जो अपने स्तर पर निर्णय होने जाते हैं उनमें जैसे शोध प्रमाण को लाके खड़ा कर देता है और वो व्यक्ति शोध प्रमाण को ठीक मानने वाला अपने असत्य का विरोध करता है अपनी बुराई का सीधा विरोध करता है यम नियमों के विरुद्ध जितनी भी विचारधाराएं उभरती हैं अधर्म की जितनी विचारधाराएं उभरती है उनका उनका विरोध स्वयं करता है व्यक्ति सतत दिन भर करता है और धीरे धीरे इसका अभ्यास करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी ऋषि ने जो बात कही थी वो जो की तो ठीक मानने लग जाएगा वही व्यक्ति उस दिन फिर उसको टक्कर नहीं लेनी पड़ेगी उस विचारधारा से स्वतः है सिद्ध हो गया उसके दिमाग में यह सिद्धि ऐसे मिलेगी प्रत्येक क्षेत्र में शरण प्रमाण को लेकर के व्यक्ति सारे क्षेत्र को पार कर जाएगा यदि वो शब्द प्रमाण का आधार शब्द प्रमाण को आधार नहीं मानेगा वो नहीं कर सकता अपना ज्ञान इतना उतरता है इतना उतरता है एक व्यक्ति की कथा सुनाते हैं उस व्यक्ति ने पता नहीं कितनी धनराशि हाथ में मिली लगी और उसने सरकार को दे दी या किसी को भाई मुझे यह मिली है व्यक्ति वही बताते हैं और उस व्यक्ति को पता नहीं चार आने या कितनी मिली थी एक बार उसने वो चुरा लिए आप बताओ क्या हुआ वही व्यक्ति हजार रुपए मिले हजार रुपए की भी क्यों ना लाख भी क्यों ना वो वो जट उठा करके सरकार को या किसी को दे देता मुझे मिली है वह तो बहुत अच्छा व्यक्ति है और वही व्यक्ति जो उसका ज्ञान नीचे उतर जाता है स्थिति बदलती है वो चार आने एक रुपये के ऊपर ही चोरी कर लेता है वही व्यक्ति इतना स्तर उतरता है व्यक्ति का देखो कई लोग दिन में चोरी नहीं करते सुपर व्यवस्था में चोरी करते क्या बताओ नहीं करते हूं नहीं समझे आप दिन में चोरी करनी छोड़ देते हैं और स्वपन आता ना रात्रि में हां उसमें चोरी कर लेते या नहीं करते चोरी बोलो आपको सपने याद रहते या नहीं रहते क्योंकि सपने याद रहते हैं आप लोगों को तो आप आत्मनिरीक्षण नहीं करते फिर आत्मनिरीक्षण करने वाले सपनों को याद रखते हैं क्या आज बुराई आई मन में अच्छाई क्या आई जो ध्यान देता है बहुत योगाभ्यास करता है उसे योगाभ्यास की बातें आएंगी अब मैं ध्यान में बैठा हूं ओम का जो सुन रहा हूं और जो दिन में सोचता है कि उस चीज कब उठाऊं कोई कब उठाई जा सकती है उसको वही सपना आएंगे अधिकतर ये होता है एक व्यक्ति ने कथा सुनाई वो आर्य समाज के कार्यकर्ता बन गए गुरुकुल के अच्छे कार्यकर्ता थे मैं वृत्तियों की बात सुना रहा था समृद्धि वृत्ति समृद्धि वृत्ति कैसी कैसे उभरती है वो सुनाने के पश्चात कहने लगे मैं अपनी एक बात सुनाता हूं सुनाओ मैं आज से तीस वर्ष पहले उक्का पीता था उक्का ही डंगा होता है उक्का से कल हाँ। एक कली बोलते हैं उसको कली दूसरे डंकी होती है कली एक ऐसे जीवन लगा देते छोटी सी गोल गोल उसको कली बोलते उसको वहां कली बोलते थे उसको उसने बताया तीस वर्ष हो गए मैंने उसको हाथ नहीं लगाया दुर्गंध आती है दूर से बुरी दिखती है पर कई बार मैं जब स्वप्न अवस्था में बैठता हूं सोता हूं ना उस समय कली को ताजी करके पानी से भिगो बना के और मैं अपने आप को पीता देखता हूं ऐसा होता है ये पीछा नहीं छोड़ने वाले पर घबराना नहीं कभी रोने लग जाओ हाँ हाय ये तो छोड़ेंगे नहीं अब अब जीत लिए तो सुपन में आएंगे ऐसा होता कई बार ये व्यक्ति गड़बड़ करता है और डरने से व्यक्ति और घबराता है एक व्यक्ति ने कथा सुनाई दो व्यक्ति में लड़ाई होगी झगड़ा और इस तगड़ा व्यक्ति का उसने कमजोर को नीचे दबा लिया दबा के उसको मारने लगा ये करने लगा कमजोर को दबाया उस तगड़े व्यक्ति ने तो उनका दिल कमजोर था ऊपर वाले का जो तगड़ा था उन्होंने कहा अच्छा मुझे उठने दो उठते ही तेरी जान निकालूंगा छोड़ूंगा नहीं धरती पर बता हाँ, <laughs> छोड़ दिया वो ऊपर आ उनकी पिटाई करी भाई ये दोस्त या मारेंगे या इनको मार दो एक फैसला नहीं होगा दोनों में से कांक लोग लोग वो अज्ञान या तो हमको मारेगा या हम उनको मार दे ये नहीं हो सकता हम जीवित नहीं रहे और वो हमको नहीं मारे आने बात समझ में अब समय हमारा